धर धीरज तब कहे वो दो अब सुमंत्र हो हरहु दो तुम पंडित पर मारथ ज्ञाता धरहु धीर लखे काम विधाता विविध कथा कही कही मृदु बणी रथ बैठा हो बर बस बसयाने शोक शिथिल रथ सकिन नहा की हर बिरह पीरऊर बाके तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा हे सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए कोमल वाणी से भांति भांति के कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है चरफराहे मग हे न घोरे बन मृग मन हो आने रथ जो परही फिर हे रही पे राम बियोगी बिकल दुखती छे जो कह राम लखन बै दे हे हे करे हे करे हे हेरहि आज बिरह गति कही कि मिजाते बिनु मन फन कल जय भाते घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं घोड़ों की बिरह दशा कैसे कही जा सकती है वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है भयबु निषाद दुबे बेस देखत सचिव तुरंग बोल सुसेवक चारितब दिए सारथी संग मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया तब उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए गुह सार थे फिर मेरा बरन नहीं जा रस ही रथ ही निषाद हो ही छिन ही छन मगन विषाद सोच सुमंत्र विकल दुख देना निग जीवन रघु वीर विहे तहु अधम जसन लहे वो बीच रत रघुबीर निषाद राजगुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं सोच सुमंत्र विकल दुख दे जीवन रघु बेर बेहेना नयंत हो अधम शरी वो बिछु रत रघु वीरु भयजसयघ भाजन प्राण कवन हे तु न हे परतपया मन अवसर चूका अजहु न हृदय उत दुयि टुका सिरु शिरु धुनि मनहु कृपण धन रास बिरिद बिरिदबाजि बर बिरु कहाय चले वो समर जनो सुभट पराए ये प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए अब ये किस कारण कुछ नहीं करते निकलते नहीं हाय नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो के बेद बेद सम्मत साधु सुजाते इमि धोखे मद पान कर सचिव सोचत ही भाति जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं पछता रहे हैं